अठारह मई दो हज़ार चौदह अशरे की मस्तनाती जमाती वापसी में बेतम चिल्ला में मुफ्ती अजमतुल्ला साहब की रवानगी की बात अलहमदिल्ला नबी अबादा अल्लाह के फजल और उसके करम से अल्हम्दुलिल्लाह जो नियत हम लोगों ने फरमाए थे अल्लाह ने उसको पूरा कर दिया अल्लाह के रास्ते में निकलना काम समझने के लिए और घर जाना काम करने के लिए हमारा घर जाना भी नेकी बनना जैसे हम अल्लाह के रास्ते में आए हैं तो अल्लाह के रास्ते में आना नेकी है अल्लाह के रास्ते में आना ईमान की बढ़ोतरी है अल्लाह के रास्ते में आना दुआ की कबूलियत है इसी तरीके से हमारा घर जाना भी नेकी बनना हमारा घर जाना सवाब की चीज़ बनना और हमारा घर जाना अल्लाह के रास्ते का मुजाहदा बनना इसके लिए भी अल्लाह इज़्ज़त ने बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए मरहमत फरमाई हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है औरत अपने घर के उस हिस्से में नमाज पढ़े जो बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा होता है तो उसको ऐसे सवाब मिलता है जैसे कि खाना कावा में नमाज पढ़ने के बराबर अंदर वाले कमरे से अगर थोड़ा सा बाहर वाले कमरे में अगर नमाज पढ़ती है तो उसको ऐसे सवाब मिलता जैसा कि मस्जिद नबवी में मिलता घर के बाहर सहन में जहां पर लोग ना दिखते हों वहां पर नमाज पढ़े तो उसे ऐसे सवाब मिलता और जैसा कि अपने बस्ती की बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ने के बराबर अगर कोई औरत अपने घर में ऐसी जगह नमाज पढ़ती है जहां पर लोग देखते हो या रास्ता चलने वाले लोग दिखते हो मेरे मोहतरमा बहनों ऐसी जगह पर नमाज पढ़ने का अजर उन औरतों के लिए कुछ नहीं मिलता और सिवाय गुना के हमारा घर भी है और कितना बड़ा आजर भी है हमारा घर भी है और कितना बड़ा आजर भी है और हमारा घर भी है लेकिन कितना बड़ा अजाब भी है तो मेरे मोहतरम माँ बहनों नमाज की पाबंदी तो हमें करना ही है इस वक्त में हमारी दरख्वास्त ये है आप जब भी नमाज पढ़ो तो घर के अंदर वाले हिस्से में नमाज पढ़ो थोड़े लोग नमाजा तो पढ़ते लेकिन बीरव्यांग के सामने पड़ते बीरवा भर जाना हो नहीं तो पैसे का पिटारा आया तो वो सामने रख ले को नमाज पढ़ते पूरा पिटारा भर जाना मेरे मोहतरम बहनों अगर जो कोई इस ताल्लुक से इस नीयत से नमाज जैसे अमल को करेगा तो नमाज भी बातिल हो जाएगी औरत की नमाज वहां है जहां घर का सबसे अंदर का हिस्सा है या दूसरी दूसरी बात यह है कि यह घर में एक जगह ऐसी फिक्स कर लें कि यह हमारी नमाज की जगह है जिस तरह से मर्दों की जगह नमाज की मुतयन होती है मस्जिद इसी तरीके से औरतों की नमाज की जगह मस्जिद ये औरतों की मस्जिद फिक्स हो जाना चाहिए कि घर की औरतों में जो कोई भी नमाज पढ़ेंगे और उसी जगह पर नमाज पढ़ेंगे नमाज तो हमें पढ़ना ही है लेकिन घर के अंदर वाले हिस्से में नमाज पढ़ना ये हमारे लिए बड़े अजर का बाइस है इसी तरह से मेरे मोहतरम मा बहनों आप लोग ईमान सीखने की नीयत से आए हो ईमान सीखने की नीयत से अल्लाह के रास्ते में दस दिन ईमान बढ़ाने के लिए ईमान सीखने के लिए ईमान समझने के लिए ईमानी कैफियात और अपने दिल में उजागर करने के लिए मेरे मोहतरम माँ बहनों अल्लाह के रास्ते में तो सिर्फ दस दिन है और अपने घर पे तो मौत तक है क्या ईमान की जरूरत सिर्फ दस दिन की जरूरत है अगर ईमान की जरूरत सिर्फ दस दिन की होती तो दस दिन मेहनत करते और खामोश हो जाते अगर ईमान की ज़रूरत अगर हर वक्त में है तो मेरे मोहतरम माँ बहनों फिर हमें ये मेहनत भी हर वक्त में करनी पड़ेगी तीन दिन दस दिन चालीस दिन औरतों को इस अमल से इन अमल से इसलिए गुजारा जाता है ताकि इनका वक्त घर में भी ऐसा ही गुजरे घर में भी ऐसा ही गुजरे कि हर काम घर का मशूरे से हो मशूरे में औरतें अमीर ना हो सिर्फ राय बताने के काबिल हो जैसे मर्दों का पर्चा आया उसमें आपकी तो एक भी नहीं चली लेकिन घर में पूरी तुम्हारी चलती देखो क्या रिवर्स मामला है जैसे मशूरे का पर्चा आया तो आपकी उसमें एक भी नहीं चली जो भी होता था आमिर साहब तय करते थे और जैसा उन्होंने तय करते थे वैसा तुम पूरा करते थे तुम लोग आमिर साहब की पूरी इतात करे देखो फिर पूरे लोग तुम्हारी कैसी इज्जत करे पूरे लोग तुम्हारी कैसी इज्जत करे सलाम करे मुसाफा करे दुआ की दरखास्त करे तुम्हारे से मिल जुड़कर बैठे तुम जो बयान करे लोग उसको सुने और तुम्हारी तश्किल पर लब्बैक कहे ये पूरी बरकत मशूरे के परिचय को मानने की है इतात की है जिस जमात में इतात नहीं है और उस जमात में कोई खैर नहीं है और जिस घर में मर्द की इतात नहीं है उस घर के अंदर भी कोई खैर नहीं है उस घर के अंदर भी कोई खैर नहीं तो मेरे मोहतरमा बहनों जिस तरह से तुम लोग पर्चा लिखा हुआ आया था जैसा जैसा तुम लोग इतात करे घर में भी इसी तरीके से अपने घर के मर्दों की बात मानना जैसे बाप हो या शोहर हो या बेटा हो या भाई हो जो हमारे घर में जिम्मेदार की हैसियत रखता है और उसको अपना अमीर मानकर और उसकी ताबेदारी करना अल्लाह मियाँ के यहाँ उसी औरत की बड़ी इज्जत है जो ताबेदार है ताबेदार ये लफ्ज याद रख लो ये ये दिल्ली मरकज का लफ्ज है देखो वहां के मौलाना बयान करे थे बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसी औरत की इज्जत और कदर है जो अपने शोहर की या अपने घर के मर्दों की ताबेदार हो तो हम रोजाना दस दिन जो मशूरा करें उस मशूरे से हमें यह बात समझ में आ जाना चाहिए कि हम मशुरे की पर्चे की पाबंदी करें कि पूरी दुनिया में हमारी इज्जत हो गई और पूरे गांव में हमारी इज्जत हो गई मैं अपने घर में और अपने लोगों की ताबेदारी करूंगी अल्लाह पूरी दुनिया में मेरी इज्जत करा देंगे हमारे एक मौलाना बयान में फरमा रहे थे जिनके बात को मैं काबिल सनत समझता हूँ इतात गुजार ताबेदार औरत जब दुनिया में मर जाती है तो आसमान के फरिश्ते भी रोते रहते नाफरमान औरत जो अपने घर के मर्दों की नाफरमानी करती तो पूरी दुनिया के शैतान रोते रहते हमारे हाथ से हमारा मोहरा चले गया तो बोलो नाफरमान औरत मर गई तो शैताना रोती ताबेदार औरत मर गई तो फरिश्ते रोती और उसके लिए दुआएं मफफरत करती मेरे मोहतरमा बहनों हर दिन का मशूरा हमें ये चीज़ याद दिलाता रहा भाई ताबेदारी करना मशूरे के पर्चे में जैसा लिखा है काम वैसा पूरा करना अब घर जाकर भी और जैसे हमारे शोहर बताएंगे और जैसे हमारे बाप बताएंगे उसी तरीके से हम बात को पूरा करना यह है ताबेदारी सीखने की बात जैसे तालीम करते थे अल्लाह के रास्ते में तालीम करने की कितनी बड़ी फजीलत है अल्लाह ताला किस कदर तालीम वालों के जहालत को काटते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और अमाल का यकीन और दिल में पैदा कर दें ऐसी बाबरकत तालीम के जहाँ पर तालीम करने के लिए अगर बैठा जाए फरिश्ते ज़मीन से लेकर आसमान तक घेर लेते हैं अल्लाह अपनी खास रहमत सकीना नाजिल फरमा दें तालीम वालों के ऊपर और दीन की मजलिस वालों के ऊपर हमारे घर में क्या कब्बे लानत क्या बरसना सो सोचो जैसे जमात में थे सुबह भी तालीम करते थे और शाम में भी तालीम करते थे सुबह भी अल्लाह की रहमत होती थी और शाम को भी अल्लाह की रहमत होती थी मेरे मोहतरमा बहनों कि अल्लाह की रहमत की हमारे घर में जरूरत नहीं है सोचो जरा रोजाना तालीम के आदाब में मजलिस के आदाब में हम लोग सुनते थे कि ज़मीन से लेकर आसमान तक फरिश्तों का एक ताता रहता है और जो मजलिस वालों को चारों तरफ से घेर लेते अल्लाह ताला पूछते तुम कहाँ से आए हो सब कुछ जानने के बावजूद हम फला मजलिस से आए हैं वो लोग क्या चाहते हैं जन्नत चाहते हैं क्या उन लोगों ने देखा है कि नहीं देखा देखते तो क्या करते क्या जहन्नम को उन्होंने देखा कि नहीं देखा तो फिर देखते तो और क्या करते तो अल्लाह ताला बोलेंगे वो पूरी मजलिस वालों की हमने मफफरत कर दी और उनकी दुआ को कबूल कर लिया और उनको अपनी रहमत से मैंने ढाक लिया क्या माँ ये हदीस खाली जमात के वास्ते क्या हमारे घर में अल्लाह की रहमत बरसना को है नहीं तुम्हारा या तुम्हारे घर में पहले से खाने काबा बन गई क्या तुम्हें तुम्हें नमाज पढ़ पढ़ पढ़ को मेरे मोहतरम माँ बहनों देखो हमारे घरों के अंदर हमारे बदमलियों की वजह से सुन्नत के खिलाफ अमल करने की वजह से हमारे घरों में जुल्मत भरी हुई है और ये एक अल्लाह वाले बुजुर्ग और अपनी किताब के अंदर लिखते हैं ये कमल सुन्नत के बगैर पूरा हुआ उस पूरे इलाके में जुल्मत छा जाती है जुल्मत छा जाती वाकया ऐसा था ये कल्ला वाले बुजुर्ग घर में थे ये कल्ला वाले बुजुर्ग घर में थे ये कल्ला वाले बुजुर्ग घर में थे अचानक रोशनी चलेगी करंट चला गया अंधेरा हो गया और सबको दिखना बंद हो गया घर वाले बोले हाय कितना अंधेरा हो गया और बिल्कुल आंखों को दिख नहीं रहा जब ऐसा बोल ही रहे थे करंट आ गया एकदम पकड़ लग बैठ गए कहीं का तो छोड़ डाल दिया है हमारे कलवा गुरु ख्वाजा मोहद्दीन साहब बयान करते रहते ये कौरत को ऐसा पर्दा पकड़ ले को खड़ो करेंगे थे तो वहां तो वो बेचारे एक बयान करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वफात का बयान उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं हजरत आयशा को आय आयशा पर्दा गिरा दे मैं मेरी उम्मत को देखना चाहता हूँ वो पकड़ लग बैठे उसका नाम भी आयशा चढ़ाया करें और मेरे कुछ ना बोली सब को पढ़ बोल पर्दा छोड़ डाली अच्छी बच्ची की बेटा इन को की और खोल को दिखती है इन्हें बैठी नहीं अन्य को दरुज शरीफ पढ़ लो अल्लाह मोहम्मद वलाल मोहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम वाल इब्राहिम मजीद तो मेरे माँ बहनों जब ऐसा मुजाकरा कर ही रहे थे घर में एकदम इतना अंधेरा हो गया उतना अंधेरा हो गया तो फिर क्या हुआ कि एकदम करंट आ गया तो अंधेरे के अंदर वो घर के जो एक आदमी थे खाना खा रहे थे अंधेरे के अंदर भी मुंह में एक निवाला ले लिया तो हजरत बोले ये करंट जाने का अंधेरा करंट आने पर खत्म हो गया तुम जो सुन्नत के खिलाफ अमल करें उसका इतना अंधेरा छा गया उसका इतना अंधेरा छा गया और ये अंधेरा कबर तक बाकी रहेगा उन्होंने एक बात कुछ देखो मां कैसा बोले अंधेरे में निवाला उठा के मुंह में निकाल लेना ये सुन्नत के खिलाफ अमल है अब वो एक सुन्नत के बारे में चुने क्या बोले कि सुन्नत के तोड़ने का इतना अंधेरा है वो अंधेरा मौत तक दूर नहीं होता और इससे भी बड़ा और इससे भी घना अंधेरा है बोल को बोले अब हमारे घर में कितने सुन्नता टूटते रहती हैं कि देखो हमारे घर में कितने सुन्नता टूटते रहती देखो मां कितने सुन्नता टूटते रहती मैं एक बात सुनाता हूं देखो अल्लाह हमें समझ के तोफिक दे ये पर्दे के ताल्लुक से है अगर घर में माँ बेटे के सामने बहन भाई के सामने बहन भाई के सामने और इसी तरीके से बेटी बाप के सामने बेटी बाप के सामने ये बगैर ओढ़नी के बगैर ओढ़नी के बगैर ओढ़नी के और खुले अंदाज में आ जाना और ये भी गुना है कबीरा है कहते देखो मां ये भी गुना है कबीरा है कहते देखो और इसकी जुल्मत बहुत ज्यादा है कहते देखो घर के लोगों के सामने भी कैसा कतो ऐसा आने का हुक्म नहीं और बाहर के लोगों के सामने तो आने का आर्डरीज नहीं लेकिन मेरे मोहतरमा बहनों घर के लोग बेटा और जो है और बाप और भाई जो शरी महरम है उन लोगों के सामने भी नहीं आना उन लोगों के सामने भी पूरा पर्दा पूरे पर्दे के साथ आना सिर्फ हाथ के पहुंचे और चेहरा दिखा सकते हैं बस बाकी जिसम और बाकी जिसम का जुस्सा पूरा छुपा हुआ रहना मेरे मोहतरमा बहनों ये भी इतना बड़ा गुना है कहते कि घर के अंदर चालीस दिन अल्लाह की रहमत नहीं आती कहते देखो माँ खुद भी अमल करो और दूसरों को भी बताओ तो हमारे घरों के अंदर जुल्मत छारी हुई है सुन्नतों के तोड़ने की वजह से फर्जा छोड़ने की वजह से और गालियों की वजह से गीबतों की वजह से और जो है नाशाइस्ता हरकतों की वजह से और थोड़े घर में टीवियाँ और पता नहीं क्या क्या क्या क्या इंतजाम रहते जिसकी वजह से घरों के अंदर जुल्मत भरी हुई है मेरे मोहतरम माँ बहनों तालीम का नूर हमारे घरों को उजाला कर देगा तालीम की रहमत और तालीम की बरकत हमारी जिंदगियों में उजाला कर देंगी जो तालीम हम जमात में करते थे और उस तालीम की सिर्फ ज़रूरत जमात में नहीं है बल्कि मौत तक हमें तालीम की ज़रूरत है इसलिए मेरे मोहतरमा बहनों हमें अपने घर के अंदर तालीम करना मशुरे के जरिए से ताबेदारी और तालीम के जरिए से और अपने घर की तालीम सारे लोगों को जोड़कर करना सारे लोग काबू में ना आए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस वक्त में मौजूद रहते हैं और उनके मौजूद रहने के वक्त में और घर में किताब पढ़ना शुरू करना घर की तालीम की जिम्मेदारी औरतों की है किताब मंगा लेना कौन से वक्त में पढ़ना कौन से वक्त में लोगों को बिठाना ये सारी जिम्मेदारी ये सारी जिम्मेदारी ये घर की कारगुजारी हमने सुनी कि एक औरत तीन दिन जमात में जाके आई उनके घर के लोग तालीम ही नहीं सुनते उनके घर के लोग तालीमी से नहीं सुनते बेचारी तीन दिन जागा को नमाज भी पढ़ी तो और वो लोग क्या बोलते कि नमाज उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना ज़्यादा पढ़े तो अल्लाह में दोस्ती हो जाती और फिर जो है कि मुसीबत भेजती कहते लोग बोले नाउज बिल्ला अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और ऐसे ख्याल से ऐसे मुर्तद ख्याल से अल्लाह हमारी मौत तक हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम बहनों के जब वो घर के अंदर तालीम का माहौल जिंदा नहीं हुआ और नमाज भी जो है खुले मन से पढ़ने से जो है मुश्किल होती थी तो वह औरत क्या करती थी और जब लोग सब लोग खाना खाते होते थे ये खाना निकालते निकालते ये खदीस बयान करते खाना निकालते निकालते बातों बातों में बोलती कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इसी तरह से मेरे मोहतरमा बहनों डेढ़ साल वो औरत जो है हर दिन खाना खाते वक्त में एक एक बात सुनाती थी कहते एक एक बात डेढ़ साल के बाद अल्लाह ताला उस घर के अंदर नूर का माहौल जिंदा फरमाया और पूरे लोगों की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता बदली आज वो घर के अंदर एक एक घंटा आधा आधा घंटा तालीम होती है और सब लोग पंज वक्त नमाजी बन गए मेरे मोहतरमा बहनों अल्लाह ताला औरतों को हिकमत देकर भेजे हुए हैं अल्लाह ताला औरतों में ऐसी हिकमत दिए हैं और मर्द को अपना ताबेदार बना सकती और अपने घर को अपने काबू में कर सकती हम दुनिया के लिए काबू में कर लें कोई अजर नहीं मिलेगा हम अपने घर को दीन के ताबे बनाने के लिए रसूलुल्लाह का ताबे बनाने के लिए अपने कब्जे में लें और सब लोगों को दीन का दाई बनाने पर मेहनत करें ये नियत यहीं से लेकर जाए अब मैं घर जाऊंगी अपने घर के पूरे लोगों को दीन का दाई बनाऊंगी और घर में तालीम का माहौल जिंदा करूंगी यह नियत लेकर यहां से जाना अपने घर में तालीम के और इल्म के माहौल को जिंदा करो करेंगे ना सब इंशाला देखो सबसे आखिर बात यह भी सुन लो मेरे मोहतरम माँ बहनों आप लोगों के मजलिस में गवा के लोग आते थे दीन की बात सुनते थे आप लोग तश्कील भी करते थे और कुछ लोग तैयार होते थे ये जो इस्तेमे आप लोग रोज़ाना करें लेकिन अपने घर पर जाने के बाद रोज़ाना तो इज्तम नहीं रहेगा या तो जब जमात आएगी जमात को साथ देने के लिए आपको पहुंचना होगा या तो हफ्ते में एक बार जो तुम्हारे हल्के का या तुम्हारे महल्ले का इस्तेमाल होगा और उसमें आपको पहुंचना पड़ेगा मेरे मोहतरमा बहनों जैसे मैंने पहले भी बताया था लोगों पर हमदर्दी पैदा करो और लोगों को ऐसी हमदर्दी से दावत दो ताकि वो तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए और तुम्हारे साथ इज्तम में बैठने के लिए और तुम्हारे साथ अमल में आगे बढ़ने के लिए राजी हो जाए राजी हो जाए जिस तरीके से आप लोग नामा लिखते थे तश्कीला करते थे और छः सिफात के मुजाकरे करते थे मेरे माँ बहनों हफ्ता आने से पहले हम हर हफ्ते में कुछ ना कुछ तैयारी करना तुम्हें खुद तैयारी नहीं कर सकते अपने मर्दों को पूछो छः नंबर में अभी क्या बोल सकती छः नंबर लिख को दो और कौन सी बात बोलना और कौन सी बात समझाना और किस तरीके से तश्कील करना और क्या क्या उमूर हैं और क्या क्या बातें हैं ये सारी चीज़ें ये हफ्ता आने से पहले पहले ये क्वारम के अंदर कुछ तो बढ़ोतरी करके जाना अब थोड़ी माँ बहन ऐसे रहते मेरे मोहतरम माँ बहनों सीखने का जज्बा नहीं होता उनमें एक साल पहले और उनको जो छह नंबर आते थे और एक साल के बाद भी होते चार एक साल के पहले का मुजाकरा जैसा था और एक साल के बाद का मुजाकरा भी वैसा चला था लेकिन दुनिया में नब्बे नब्बे बातें सीखती नब्बे चपलां के जोड़े होना नब्बे कपड़े होना नब्बे पट्टी के पिन्ना होना नब्बे दरवाजे के पर्दे होना और नब्बे जो है और घर के चीज़ा होना और नवे नवे सब चीज़ा होना लेकिन दिन के बाद तो वही पुराने और नवा सीखने का अच्छा नहीं रहता मेरे मोहतरम मावेनो जो घर के मर्दवाने जो नमाजांग जाते रहती और मस्जिद जाते रहती उनको पूछते रहना क्या कोसी जमात है ये कोसी जमात के साथ बैठी तुम्हें बयान में बैठे थे नहीं उन्होंने क्या बात बताई क्या वाक़ बताई क्या इबरत की बात बताई मेरे मोहतर मावेनो पूछ पूछ को सीखना देखो पूछ पूछ को सीखना हमारे एक साथी हमारे साथ जमात में आए थे अल्लाह उनको जजाय खैर अता फरमाए उनकी बीवी एक दिन भी अल्लाह के रास्ते में नहीं निकली एक दिन भी अल्लाह के रास्ते में नहीं निकली और मेरे से खुद बोले उन्होंने इम्तिहान ले बोल के और मैं जाके उनका इम्तिहान लिया कि वो ऐसे बोल रहे थे और छह सिफात वगैरह ऐसे सुनाई उन्होंने और ऐसे मुजाकरे करे जो इन इनो जो सुनते थे वो जाके रात को अपनी बीवी को सिखाते थे अपनी बीवी को सिखाते थे और उसके अंदर भी इतना शौक था सीखने का कि वो पूरी चीजें एक दिन भी जमात में निकलने से पहले सीख गए अब हमारे औरता दस दिन लगा को भी चालीस दिन लगा को भी नहीं सीखते असल जो सीखने की जगह है जमात नहीं मान असल जो सीखने की जगह घर है दो अपने घर के मर्दों से रोजाना एक एक बात सबकन सबकन सीखो घर की तालीम के बाद और कुछ सीखने सिखाने का हल्का लगाओ अगर वो वक्त नहीं तो दूसरे वक्त में है तो भी अगर लिखना पढ़ना जानते हो तो लिखना पढ़ना जानकर सीखो मेरे मोहतरमा बहनों ये सारी बात इसलिए है ताकि अल्लाह हमें अपने दावत के काम में इस्तेमाल करे दावत के काम में इस्तेमाल करे तो ऐसा सीखेंगे ना सभी इनशाला तो मेरे मोहतरमा बहनों देखो कि अभी ये अल्लाह ताला की कबूलियत के लिए अल्लाह हमें अपने काम के लिए कबूल करने के लिए हमें दुआ भी मांगना ज़रूरी है कि नमाज तो अल्लाह की फजल से हम लोगों को पढ़ना ही है और फिर उसके बाद और हम जो है कि दावत की मेहनत भी और ज़ोर शोर से करना और सच्ची नीयत लेकर जाओ और अल्लाह से खूब दुआ मांग के जाओ और अपने घर पर भी खूब दुआएं मांगो आने वाली जमातों से भी दुआ कराओ और खूब साथ देने की भी कोशिश करो ताकि अल्लाह ताला दुआओं की बरकत से उन आने वाले मेहमानों की बर, दुआओं की बरकत से अल्लाह हमें भी कबूल फरमा ले और हमारे घर के बच्चों को भी अल्लाह ताला कबूल फरमा ले और हमारे खानदान और कुंबे वालों को भी कबूल फरमा ले तो भाई देखो अभी इस वक्त में दस दिन आप लोग साथ रहे एक दूसरे से कोई कमी कोताही और कुछ कमी पेशी एक दूसरे के शान में कोई गुस्ताखी भी हो गई होंगी तो इसलिए एक दूसरे को माफी तलाफी भी कर लेना जब तक एक दूसरे को माफी नहीं कर लेते तो मेरे मोहतरम माँ बहनों फिर अल्लाह तला दुआओं को कबूल नहीं करते वैसे तो मेरे ख्याल से कोई किसी की कोई बात नहीं हुई होगी अगर नहीं हुई तो भी एक दूसरे को माफी तलाफी कर लेना और फिर दूसरी बात देखो माँ बेदम चलने में आए बेदम चलने में जिस तरह से आप लोगों की खिदमत करना था हम लोग ऐसी पूरी खिदमत आप लोगों की नहीं कर सके बेदम चलने वालों की तरफ से जो कमी कोताही हुई है और उसको तुम्हें माफ करो और भीड़ भाड़ जमात लेकर आओ इनशाला फिर अच्छे तरीके से तुम्हारी खिदमत करेंगे इनशाला ये बार जो है हम ठीक से साथ नहीं दे सकें तुम्हारा हाँ ठीक से तुम्हारा हक अदा नहीं कर सकी इसलिए बेदम चलने वालों को माफ करो और बेदम चलने वालों के हक में अच्छी दुआ करके जाओ बेदम चलने वालों के हक में अच्छी दुआ करके जाओ अल्लाह ताला पूरे बेदम चलना मंडल के लिए दीन और दीन की मेहनत की अल्लाह तोफीक नसीब फरमाया और इसी तरीके से कि जैसे घर पहुंचती घर पहुंच के और अपने घर की दूसरी औरतें मिलने आती दस दिन हूँ उनको कैसा कैसा आमतौर पर औरतें को क्या पूछती क्या खली उनको पूछती आमतौर पर वही चना कान तो दावत जाकेंगे तो कान तो इधर उधर जाकेंगे तो कैसा था क्या खलेंगे बोल को पूछती क्या तो कितने तालीमा करी और कितने मैंने निकाली कितने तस्करा करी ये तो नहीं पूछेंगे लोग लोग ये तो पूछेंगे आला कटे में कैसा था बेदम चले में कैसा था बेदम चलने वाले अच्छा खले ही नहीं ऐसा क्या क्या की पूछ थी मेरे को उनके आदमी से क्या करेंगे मेरे मोहतरमा बहनों उन्होंने वो बात पूछे तो भी तुम्हें क्या जवाब देना अजी हाँ खाने पीने की बातें छोड़ो वो तो होती रहेंगी पहले ये सुनो अल्लाह के फजल से इज्तम में बीस बीस आई हमारे ऐसा सुनाना कारगुजारी इस टाइप से सुनाना पड़ा अब थोड़े आदमी आपको पूछती वहां के आदमी कैसे थे सुनने गिनने डालने को थे नहीं गरीबा थे मालदारा थे ये भी थोड़े आदमी पूछते अभी मालदारी गरीबी क्या रहने वाली है तुम ये सुनो वहां के लोग तश्किला में एक एक ट्रिप में बीस बीस आदमी नामा लिखाते थे ऐसा ये टाइप में कारगुजारी सुना अच्छी कारगुजारी सुनाना दीन की कारगुजारी सुनाना ईमान की कारगुजारी सुनाना के अब फिर उन्हें यह पूछती हाँ क्या सब्जी ने अच्छी तरह थे क्या नहीं तो अजी क्या अच्छा रहना तो असल जन्नत में है बस जन्नत में अच्छा रहना बोल को मैं तीन सूर्य सिक्के ही देखो कारगुजारी वैसा वैसा वैसा सुनाना दुनिया में क्या अच्छे रहे नहीं रहे तो भी दुनिया गुजर जाती है मैं जन्नत में अच्छा रहना बोल को तीन सूर्य सिक्के हूँ दो दुआ सिक्के हूँ छह सिफात सीख गई हूँ ऐसा कारगुजारी वैसा सिखाना करने वाला देखो माँ तुम्हें भी निकलो तुम्हें भी सीख सकती और तुम्हें भी अमल कर सकती तुम्हें भी ईमान बना सकती मेरे मोहतरमा बहनों अच्छे अंदाज में कारगुजारी सुनाना भी आधी दावत है कहते देखो इसलिए अच्छी कारगुजारी सुनाओ और अच्छी दुआ करो हा? और घर के माहौल को जन्नत का माहौल बनाने की कोशिश करो घर को जहन्नम का गड़ा मत बनाओ तुम्हारे हकों को माफ कर डालो और दूसरों के हक को अदा करो घर के जो हकूक हैं कि ननन का हक भावच का हक सास का हक शोहर का हक हाँ अल्लाह अकबर ये जमात में शोहर का मुजाकरा नहीं हुआ मेरे ख्याल से अगली जमात में करेंगे इनशाला थोड़ा बहुत बाकी भी रखने को भेजना तो वरना मेरा स्पेशल आइटम है शोहर की दात के बारे में बोलना लेकिन ये जमात जो है दस दिन की जमात रहने से थोड़ा सा ये जिक्र फिक्र की बातें भी गुजर गई इनशाला फिर जमात लेके आओ इनशाला उसके ताल्लुक से भी मुजाकरा करेंगे तो मेरे मोहतरमा बहनों घर में घर के लोगों का जिसका जो हक शरीयत ने मुतन कर दिया उस हक को अदा करते हुए उस हक को अदा करते हुए दावत की मेहनत करना अब हम घर जा रहे हैं और घर में जो है खाने और कमाने के लिए और घर को संभालने के लिए नहीं बल्कि घर में जाकर दावत के काम को संभालने के लिए जा रहे जब यह नियत से आदमी घर जाएगा घर जाना उसका अजर बनेगा और सवाब बनेगा ऐसा करेंगे ना सभी इंशाला घर जाके दावत का काम करेंगे ना अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तोफीक नसीब फरमा दुआ कर लेंगे अच्छा ये जो ब्यागा है वो बच्चों के जरिए से बाहर को भेज दो बुरके वगैरह पहन के और हाथ वगैरह मिला लेके सलाम मुसाफिर कर लेके बिल्कुल रेडी बैठो जब गाड़ी आ जाए फौरन बाहर निकल कर आ जाना बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह वला वला इल्ला अलील अजीम اللهم بك وبك وبك ربي منزلا مباركا خير المنزلين अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा हमारे खता दर गुजर फरमा हमारे जुर्म अजीम को माफ़ फरमा अल्लाह ये मस्तूरात की जमात को भरपूर कबूलियत नसीब फरमा अल्लाह इस जमात में जितनी माँ बहनें आई हुई हैं अल्लाह इनके आने को कबूल फरमा अल्लाह इनके कदमों की बरकत से बेतम चलने में अल्लाह तो दीन का उजाला कर दे अल्लाह ये लोग जितनी दुआएं मांगे बेदम चल्ले में रहकर अल्लाह तालीम करे तहजद पढ़े अल्लाह लोगों को तश्किल करे अल्लाह इनके अमलों को कबूल फरमा अल्लाह ये जो नीयत करे हैं ये नियतों को घर पर जाकर अमल करने की तोफ़ी मरहमत फरमा अल्लाह इस जमात ने इस पूरे सफ़र में जितनी जायज़ दुआएं मांगी हैं अल्लाह उन सारी दुआओं में कबूलियत तामा अता फरमा तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी सुन्नतों पर अमल की तोफ़ी नसीब फरमा इताद की तोफ़ी नसीब फरमा अल्लाह घरों में मोहब्बतों की तोफ़ी नसीब फरमा घरों में तालीम जिंदा करने की तोफ़ी नसीब फरमा हफ्तेवारी इज्तम में और जमातों को साथ देने में आगे बढ़ने की तोफ़ी मरहमत फरमा अल्लाह अल्लाह हमें मौत तक तेरे दीन की मेहनत में इस्तकामत के साथ जमने और जुड़ने की तोफ़ी मरहमत फरमा अल्लाह हमारी कमी कोताही को माफ़ फरमा अल्लाह इस दस दिन के अंदर जो गलतियाँ कमियाँ कोतियाँ हुई कोतायाँ हुई अल्लाह उनको अपने फजल से माफ़ फरमा अल्लाह वसलम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरखलकी कुल्लिम अल्लाह जो चीज़ें मांगा है उसे भी अता फरमा बहुत सारी चीज़ें मांगने से रह गई जो हमारी ज़रूरत की हैं अल्लाह तो गैब से उन चीज़ों का इंतज़ाम फरमा अल्लाह हमारी भी हिफाजत फरमा हमारे ईमान व अमाल की और सामान और सवारियों की भी हिफाजत फरमा आगे से पीछे से दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से हर तरफ हर रुख से हर एतबार से अल्लाह हमारी हिफाजत और मदद और नुसरत फरमा अल्लाह वसलम दाइमन अबदा अला हबीब का खैर बिरहमत के रबीआलमीन